सुलेमान ने कहा हम अभी देख लेते हैं कि तुमने सच कहा है या झूठ बोलने वालों में तुम भी शामिल हो गए हो